पहला प्रश्न मैं कभी जीवन के शिखर पर अनुभव करता हूँ ऐसा लगता है कि सब कुछ जीवन का सब रहस्य पाया हुआ ही है लेकिन फिर किन्हीं क्षणों में बहुत घनी उदासी और असहायता भी अनुभव करता हूँ मेरी वास्तविक समस्या क्या है यह मेरी पकड़ में नहीं आता है शिखर जब तक है तब तक घाटियां भी होंगी शिखर की आकांक्षा जब तक है तब तक घाटियों का विषाद भी झेलना होगा सुख को जिसने मांगा उसने दुख को भी साथ में ही मांग लिया और सुख जब आया तो उसकी छाया की तरह दुख भी भीतर आ गया हम सुख के नाम तो बदल लेते हैं लेकिन सुख से हमारी मुक्ति नहीं हो पाती और जो सुख से मुक्त नहीं वह दुख से मुक्त नहीं होगा अश्चावक्र की पूरी उपदेशना एक ही बात की है द्वंद से मुक्त हो जाओ जो निर्द्वंद हुआ वही पहुंचा जिस शिखर को तुम सोचते हो पहुंच गए वो पहुंचने की भ्रांति है क्योंकि पहुंचने का कोई शिखर नहीं होता पहुंचना तो बड़ी समभूमि है न ऊंचाई है वहां न नीचाई है वहां पहुंचना तो ऐसा ही है जैसे तराजू तुल गया दोनों पलवे ठीक समतुल हो गए बीच का कांटा ठहर गया या जैसे घड़ी का पेंडुलम बाएं गया दाएं गया तो चलता रहेगा लेकिन बीच में रुक गया न बाएं न दाएं ठीक मध्य में तो घड़ी रुक गई जहां न सुख है न दुख दोनों के बीच में ठहर गए वही छुटकारा है वही मुक्ति है अन्यथा मैं मन नए नए खेल रच लेता धन पाना ध्यान पाना संसार में सफलता पानी कि धर्म में सफलता पानी लेकिन जब तक सफलता का मन है और जब तक सुख की खोज है तब तक तुम दुख पाते ही रहोगे क्योंकि हर दिन में रात सम्मिलित है और फूलों के साथ कांटे उगाते फूल कांटों से अलग नहीं और रात दिन से अलग नहीं छोड़ना हो तो दोनों छोड़ना है एक को तुम न छोड़ पाओगे एक को हम सब छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हमारी सबकी चेष्टा यही कि रात समाप्त हो जाए दिन ही दिन हो ऐसा नहीं होगा संसार द्वंद से बना है हाँ, अगर तुम द्वंद के बाहर सरक जाओ अतिक्रमण हो जाए तुम दोनों के साक्षी हो जाओ अब समझो फर्क तुम कहते हो कभी कभी शिखर पर होता हूं जब तुम शिखर पे होते हो कुछ शांति मिलती कुछ आनंद मिलता कुछ पुलक समाती कुछ उत्सव होता भीतर तब तुम उस उत्सव के साथ तादात्म कर लेते तब तुम सोचते हो मैं उत्सव तब तुम सोचते हो मैं आनंद बस वही चूक हो गई साक्षी बने रहो होने दो शिखर उठने दो शिखर गौरी शंकर बनने दो वो तुम ऊंचाई आ जाए लेकिन तुम देखते रहो दूर खड़े जुड़ मत जाओ ये मत कहो कि मैं आनंद इतना ही कहो आनंद को देख रहा हूँ आनंद हो रहा है मैं देखने वाला मैं आनंद नहीं फिर थोड़ी देर में तुम पाओगे कि शिखर गया और घाटी आई दिन गया रात आई तब भी जानते रहो कि मैं विषाद नहीं देखता हूँ विषाद है दुख है पीड़ा है मैं दूर खड़ा दृष्टा मात्र सुख को भी देखो दुख को भी देखो जब तुम देखने वाले हो जाओगे तो कैसा शिखर कैसी घाटी फिर कैसी विजय और कैसी हार नहीं तो मन नई नई चालें चलता है नासाद किसे कहते हैं और साध किसे मजबूर किसे कहते हैं आजाद किसे एक दिल है कि सौ भेष बदलता है फिराक बर्बाद किसे कहते हैं आबाद किसे एक दिल है कि सौभेस बदलता है फिराक एक ही मन है नई नई भंगिमाओं में प्रकट होता है कभी शिखर पर कभी घाटी में जो शिखर पर वही घाटी में वो कुछ भिन्न नहीं है तुम जब शिखर पर अपने को अनुभव करते हो तब बड़े प्रभावित हो जाते हो कहा पहुंच गए बस जहां तुमने कहा आह पहुंच गए वहीं से उतार शुरू हो गया गिरती शुरू हो गई कहो ही मत कि आह पहुंच गए तो फिर तुम कभी चूक ना सकोगे पकड़ो मत तो कुछ छुड़ाया ना जाएगा दूर खड़े तथस्थ देखते रहो अब दोबारा जब सुख की ये घड़ी आए और ध्यान रखना शुरू करना सुख की घड़ी से दुख की घड़ी से शुरू मत करना दुख की घड़ी से तो तुम शुरू करना चाहोगे तुम कहोगे तो फिर ठीक अब जब घाटी आएगी और विषाद गिरेगा और अंधेरी रात पकड़ लेगी तब मैं कहूंगा मैं दृष्टा मैं दूर खड़ा दुख में तो सभी दूर खड़े होना चाहते हैं वो कोई बड़ी कुशलता की बात नहीं दुख में कौन जुड़ना चाहता दुख में तो तुम्हारा मन ही तुमसे कहता है कि हट जाओ नहीं दुख से शुरू मत करना दुख में तो शुरू किया तो कोई सार न होगा जब सुख की घड़ी आए और सब तरफ कमल खिल जाए और चांद ऊपर खिला हो और सब तरफ रस ही रस बहता हो तब एक छलांग लगा के बाहर हो जाना कहना मैं सुख नहीं मैं सिर्फ तृष्णा हूं अगर तुम सुख में जीते तो दुख में भी जीत जाओगे अगर तुमने दुख से कोशिश शुरू की तो तुम कभी ना जीतोगे क्योंकि दुख से तो सहज ही मन अलग होना चाहता उसमें कुछ साधना नहीं है उसमें कुछ जतन नहीं है कोई गुणवत्ता नहीं कांटे से कौन नहीं छूटना चाहता कांटा चुभ जाता तो सभी कांटे को फेंकना चाहते मजा तो तब है जब तुम फूल को फेंक दो और जिसने फूल को फेंक दिया उसके जीवन से कांटे समाप्त हो जाते नहीं तो तुम उलझे ही रहोगे जब घाटी में रहोगे शिखर की आकांक्षा सताएगी जब शिखर पर रहोगे तब घाटी का भय पकड़ेगा कि फिर आती होगी घाटी फिर होगी रात ये सूरज उगा ये दोपहरी हो गई ये सांझ होने लगी रात आती ही होगी न तुम शिखर पर शांत हो सकते हो क्योंकि शिखर तो तुम्हें याद आती ही रहेगी घाटी की सफल आदमी कहा आनंदित हो पाता डरा रहता अब विफलता लगी अब विफलता लगी कितनी देर और सफल रह पाऊंगा डरा रहता है कहीं खो तो ना जाएगा और जिसका भय है कि खो तो ना जाएगा उसका सुख कैसे हो सकता है वो सुख धोखा धोखा है हिर्स और हब से हयाते फानी ना गई इस दिल से हवाए कामरानी ना गई है संगे मजार पर तेरा नाम कहा मरकर भी उम्मीद ए जिंदगानी न गई नस्वर जीवन की लालसा नहीं गई हिर्स और हव से हयाते फानी न गई जो छिन जाता है क्षण भर में फिर हम उसे मांगने लगते कभी ये नहीं सोचते कि जो क्षण में छिन गया फिर भी मिल जाएगा तो फिर क्षण में छिन जाएगा उसका होना ही क्षण भंगुर है हिर्स और हब से हयाते फानी ना गई इस दिल से हवाए कामरानी न गई और कितनी हारें तुमने उठाई फिर भी विजय की आकांक्षा नहीं जाती विजय की उत्कंठा मन को पकड़े ही हुए फिर जीत ले न जीत पाए संसार में तो परमात्मा के जगत में जीत ले नहीं बना पाए यहाँ स्वर्ग तो वहां स्वर्ग मिल जाए धन नहीं जुड़ा पुण्य जुड़ा ले धन नहीं जुड़ा ध्यान जुड़ा ले मगर जीत के दिखला दे इस दिल से हवाए कामरानी न गई ये उत्कंठा विजय की ये मरते दम तक नहीं छोड़ती है संगे मजार पर तेरा नाम का अब तो कब्र पे नाम भी लिख गया कब्र में दब गए मरकर भी उम्मीद जिंदगानी न गई लेकिन कब्र में दबे दबे भी तुम फिर जिंदगी की उम्मीद करते रहोगे फिर मिले जीवन फिर हो जन्म मरे तो जीवन की आकांक्षा और जिए तुम कब ठीक से जिए तो मौत का डर तो पकड़े ही रहा कदम कदम तो मौत घबराती रही कि अब होगी कि तब होगी कि जरूर होने वाली है ये आज एक मर गया कल दूसरा मर गया चू में खड़े हैं च्यू छोटा होता जाता है हम आगे सरकते जाते रोज मौत करीब आती जाती जिंदा है तो मरने कब है मर गए तो फिर जीवन की आकांक्षा ऐसा ये द्वंद्व का चक्कर है इसको इस देश के लोगों ने संसार चक्र कहा है संसार चक्र का अर्थ होता है जो है उससे विपरीत पकड़े रहता है तुम जो है उसे देखने लगो तो धीरे धीरे वह भी छूटेगा विपरीत भी छूट जाता है अब दोबारा जब तुम्हें सुख का क्षण आए हिम्मत करना बड़ी हिम्मत की जरूरत है सुख के क्षण में जागने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत है क्योंकि सुख के क्षण में तो आदमी सोना चाहता है सुख के क्षण में तो सोचता बा मुश्किल से तो सुख मिला और अब यहाँ साक्षी बन के और नष्ट करना किसी तरह मिला भोग लो पुरानी आदत पुराना संस्कार दात्म कर लेने का फिर तुम्हें पकड़ेगा हिम्मत रखना रखा है किसी की आस रहने में ही क्या रखा है किसी के पास रहने ही में क्या आदत सी पड़ गई है शायद वरना रखा है फिराक उदास रहने में ही क्या एक आदत एक संस्कार अन्यथा रखा क्या है उदास रहने में और रखा क्या है प्रफुल्ल होने में न उदासी में कुछ है न प्रफुल्लता में कुछ दोनों ही स्थिति में तुम अपने को गमाते हो और दोनों ही स्थिति में तुम रिक्त होते चूकते हर घड़ी चाहे सुख हो चाहे दुख एक ही चीज पाने योग्य है और वह है साक्षी भाव जागो और देखो जोड़ो मत अपने को अगर तुमने बाहर की चीजों से अपने को न जोड़ा तो तुम भीतर के जगत से जुड़ जाओगे उसी का नाम योग है बाहर से जोड़ा भीतर से टूट जाओगे उसी का नाम विरह है अपने से टूट गए विरह अपने से जुड़ गए योग दूसरा प्रश्न परमात्मा की परिभाषा क्या है परमात्मा की प्रतिमा कैसी है परिभाषा जिसकी हो सके वह परमात्मा नहीं इसे तुम परमात्मा की परिभाषा समझो जिसकी परिभाषा हो सके डेफिनेशन हो सके वह परमात्मा नहीं क्योंकि परिभाषा का अर्थ ही होता है जिसके चारों तरफ हमने रेखा खींच दी तो परिभाषा सीमित की हो सकती परिभाषा असीम की नहीं हो सकती तो जो भी हम कहेंगे छोटा होगा जो भी हम कहेंगे झूठ होगा इसलिए लाउसू ने कहा है सत्य के संबंध में कुछ कहा कि सत्य असत्य हो जाता है कहते से ही असत्य हो जाता है क्योंकि शब्द बड़े सीमित है सत्य बड़ा विराट है जैसे मुट्ठी में कोई आकाश बांधने को कहे मुट्ठी में भी आकाश हो सकता है मुट्ठी अगर खुली हो मुट्ठी अगर बंद हो तो आकाश खो जाता है परिभाषा तो बंद मुट्ठी है इसलिए परिभाषा तो नहीं हो सकती इशारे हो सकते इशारा खुला मुट्ठी कुछ बंधा हुआ नहीं है सिर्फ इशारा है इंगित हो सकते परिभाषा नहीं हो सकती और परमात्मा की प्रतिमा पूछते हो कैसी है सब प्रतिमाएं उसकी है जो भी तुमने देखा है उसी की प्रतिमा है उसके अतिरिक्त कोई और है नहीं अनंत अनंत उसकी प्रतिमाएं फिर भी किसी प्रतिमा में वह चुक नहीं गया है सब रूप उसके और सब रूप उसके इसीलिए हो सकते हैं कि वह स्वयं अरूप है अरूप के ही सब रूप हो सकते कितनी लहरें सागर में उठती सभी लहरें सागर की हैं छोटी लहर बड़ी लहर झाग वाली लहर गैर झाग वाली लहर प्रचंड तूफान की तरह आती हुई लहर की डुबा दे नौकाओं को सभी लहरें उसकी सभी रूप उसके एक ही सागर के लेकिन सागर अरूप है जिसने पूछा है वह भी परमात्मा का एक रूप है वही भी एक प्रतिमा है जब तुम दर्पण के सामने सुबह खड़े होकर दर्पण देखते हो तो जिसको तुम देखते हो वह भी परिमा परमात्मा है मंदिर में रखी मूर्तियां ही परमात्मा नहीं है राह के किनारे अनगढ़ जो पत्थर पड़े हैं वे भी परमात्मा है क्योंकि परमात्मा के सिवा कुछ और है नहीं परमात्मा शब्द का एक ही अर्थ होता है अस्तित्व परमात्मा शब्द के कारण धोखे में मत पड़ जाना इसका मतलब व्यक्ति नहीं होता इसका मतलब होता है ये जो विराट ऊर्जा है जगत की ये जो अस्तित्वमान ऊर्जा है यही पूछता हूं जब कभी संसार यह आया कहां से चकित मेरी बुद्धि कुछ भी न कह पाती है और तब कहता हृदय अनुमान तो होता यही है घट अगर है तो कहीं घटकार भी होगा लेकिन जिसने भी ये पंथियां लिखी उसे परमात्मा को, का कोई पता नहीं परमात्मा का अनुमान नहीं होता परमात्मा कोई इन्फ्रेंस नहीं है अधिकतर तुमने यही बातें सुनी होंगी ये बातें बचकानी लोग कहते हैं और तब कहता हृदय अनुमान तो होता यही है घट अगर है तो कहीं घटकार भी होगा अगर घड़ा है तो घड़े को बनाने वाला भी कोई होगा लेकिन तब तो बड़ी झंझट खड़ी होगी फिर घटकार है तो घटकार को बनाने वाला कौन होगा ये बात कुछ ज्यादा दूर ना जाएगी दूर जाती नहीं अनुमान से परमात्मा का कोई संबंध नहीं है अनुभव से अनुमान तो सब कल्पित है अनुमान तो हमारी मजबूरी है क्योंकि हमें लगता है इतना बड़ा विराट है तो कोई चलाने वाला होगा मगर यह हमारे बुद्धि का अनुमान है और बुद्धि का अनुमान क्या क्या खबर लाएगा परमात्मा की ये तो ऐसा है जैसे कोई चम्मच से सागर को उलीचने चला परमात्मा अनुमान नहीं तर्क नहीं सिद्धांत नहीं अनुभव है अनुभव का अर्थ होता है जो अपने को पिघलाएगा और तब ऐसा पता नहीं चलेगा कि घट है तो घटकार भी होगा तब तो तुम जानोगे कि घट और घटकार दो नहीं है एक ही परमात्मा और उसकी कृति दो नहीं सृष्टा और सृष्टि दो नहीं तुम्हारे मन में परमात्मा के संबंध में जो धारणा बना दी गई है वो ऐसी है कि दूर कहीं आकाश में कोई बैठा स्वर्ण के सिंहासन पर इसलिए तुम पास नहीं देखते तुम दूर देखते हो तुम इन पास खड़े वृक्षों में नहीं देखते चट्टानों में नहीं देखते तुम दूर खोजते हो चांदारों के पास और परमात्मा पास है पास से भी पास है तुम अपनी पत्नी में नहीं देखते तुम अपने पति में नहीं देखते ना अपने बेटे में देखते हो तुम देखते हो राम में कृष्ण में बुद्ध में महावीर में बड़े दूर वेद में कुरान में गीता में बाइबल में तुम अपने हस्ताक्षरों में नहीं देखते और तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें जो प्रेम पत्र लिखा है उसमें नहीं देखते वेद में तुम्हारे बेटे ने तुतला के तुमसे जो कहा है उसमें नहीं कृष्ण के वचनों में तुम दूर देखते हो इसलिए चूकते हो और परमात्मा पास परमात्मा तुम्हारे बेटे में तुतला रहा है तुम्हारे बेटे में चलने की कोशिश कर रहा है वृक्षों में हरा है पक्षियों में गुनगुना रहा है हवा के झोंकों में अदृश्य जो तुम्हारे चारों तरफ घिरा हुआ है वह परमात्मा के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है तुम कहीं भी झुको उसी के चरणों पर तुम्हारे हाथ पड़ते तुम कहीं भी आंख उठाओ उसी का दर्शन है इसलिए तुम इस तरह मत पूछो अन्यथा तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी कहीं प्रश्न में भूल है अफसोस हमारी उम्र रोते गुजरी नित दिल से गुबार एक गम ही धोते गुजरी देखा न कभी ख्वाब में अपना यूसुफ हर चंद तमाम उम्र सोते गुजरी अगर तुमने पास नहीं देखा तो तुम सोते सोते ही जिंदगी गुजार दोगे यूसुफ तुम्हें दिखाई ना पड़ेगा वो प्यारा तुम्हें दिखाई ना पड़ेगा वो प्यारा तुम्हें छू रहा है जब तुम श्वास भीतर लेते हो तब तो वही प्यारा तुम्हारे भीतर गया जब तुमने पानी पिया तो वही प्यारा तुम्हारे कंठ में गया और तुम्हारे कंठ में जो तृप्ति का भाव जगा वो भी उसी प्यारे के कंठ में जग रहा है उसके अतिरिक्त कोई भी नहीं परिभाषा मत पूछो इशारे पूछो ऐसा मत कहो कि मैं बता दूं कहां है परमात्मा क्या है उसकी प्रतिमा मस्जिद में है कि मंदिर में कि गुरुद्वारे में सब जगह है और जिसने देखने की कोशिश की एक ही जगह वो चूक गया है जिसने कहा मंदिर में ही है वो आदमी नास्तिक जिसने कहा मस्जिद में ही है वो आदमी नास्तिक और जिसने कहा चर्च में ही है वो आदमी नास्तिक जिसने कहा जीसस के सिवाय किसी में नहीं वो आदमी नास्तिक और जिसने कहा कृष्ण के सिवाय कृष्ण नहीं वो आदमी भी नास्तिक जिसने भी परमात्मा को सीमा दी वो परमात्मा का दुश्मन जिसने परमात्मा को मुक्ति दी तुम मुक्त होना चाहते हो कम से कम परमात्मा को तो मुक्त करो तुम तो मुक्त हो ही नहीं परमात्मा तक को बंधनों में डाले है जाना जाता है परमात्मा निकट में और निकट को पहचानने का मार्ग प्रेम है अनुमान नहीं तर्क नहीं जब तुम्हारा ही हृदय गीत गुनगुनाता है जब तुम्हारा हृदय गदगद होता है प्रेम के भाव में तब तुम परमात्मा का अनुभव करते हो परमात्मा अनुमान नहीं प्रेम की प्रतीति है टेर रही प्रिया तुम कहा किसकी यह छा है और किसके ये गीत रे शहर रहा जिया तुम कहा किसके ये कांटे हैं किसके ये पात्र बेहर रहा हिया तुम कहा बिरम गए पिया तुम कहा जब तुम प्रेमी की तरह पुकारोगे परिभाषा परमात्मा की परिभाषाएं गणित में होती इपलेट से पूछो तो ज्यामिति की सब परिभाषाएं बता देता है परिभाषाएं आदमी की बनाई हुई है तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो तुम्हारा बनाया हुआ नहीं उससे ही परमात्मा को खोजो तुम्हारे भीतर प्रेम है जो तुम्हारा बनाया हुआ नहीं तुमने एक बात देखी आदमी सब बना ले प्रेम नहीं बना पाता मंदिर बना लो मस्जिद बना लो बड़े मंदिर बनाओ बड़ी मस्जिद बनाओ लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि प्रेम बनाओ तो तुम कहते बड़ा मुश्किल हो तो हो नहीं हो तो नहीं हो लाख कोई कहे कि इस आदमी से प्रेम करो तुम कहोगे मगर करें कैसे हो तो हो ना हो तो ना हो होता है तो होता है नहीं होता तो नहीं होता आदमी के हाथ में कहा जो आदमी के हाथ में नहीं है उसी पर सवारी करो तो परमात्मा तक पहुंच जाओगे मंदिर तुमने बना लिए वो आदमी के हाथ में सुंदर मंदिर बना लिए प्रतिमाएं तुमने बना ली वो आदमी के हाथ में सुंदर प्रतिमाएं बना ली लेकिन जो भी आदमी के द्वारा निर्मित है उससे परमात्मा की कोई पहचान न हो सकेगी तुम अपने भीतर उसको खोजो जो तुम्हारे बनाने में नहीं आता उसी सूत्र को पकड़ो देखो तर्क सिखाया जा सकता है प्रेम सिखाया नहीं जा सकता है तर्क के स्कूल है कॉलेज है विश्वविद्यालय तुम जाके तर्क पढ़ सकते हो तर्क ना आता हो तो अभ्यास कर सकते हो लेकिन प्रेम का कोई विद्यालय नहीं कोई विद्यापीठ नहीं प्रेम को कोई सिखा नहीं सकता एक आदमी ने रामानुज से जाके कहा कि मुझे परमात्मा का मार्ग बता दे बस मेरे जीवन में एक ही चीज पाने की है वो परमात्मा पाना है सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हूं रामानुज ने कहा मेरे भाई एक बात पूछता हूं तुमने कभी किसी को प्रेम किया उस आदमी ने कहा झंझट में मैं कभी पड़ी नहीं मैं धार्मिक आदमी हूं मैं बचपन से धार्मिक हूं मुझे पहले से परमात्मा को पाना है प्रेम इत्यादि के चक्कर में मैं पड़ा नहीं रामानुज बहुत उदास हो गए और रामानुज ने कहा कि फिर भी तुम खोजो शायद किसी मित्र से किया हो किसी से तो किया होगा माँ से किया हो पिता से किया हो भाई बहन से किया हो कभी तुम्हारे जीवन में प्रेम की पुलक उठी कि नहीं वो आदमी बड़ा नाराज हो गया उसने कहा मैं परमात्मा की पूछता हूं तुम प्रेम की बातें उठाते मैं परमात्मा का खोजी हूं प्रेम से क्या लेना देना प्रेम का चक्कर ही तो परमात्मा तक नहीं जाने देता तो रामानुज की आंखों में कहते हैं आंसू आ गए और उन्होंने कहा फिर मैं तुम्हारा कुछ भी सहयोग न कर पाऊंगा फिर मैं असमर्थ हूं आदमी कहने लगे लेकिन तुम्हारी असमर्थता क्या है इतने तुम्हारे शिष्य हैं इतने लोग तुम्हारे द्वारा प्रभु की तरफ जा रहे हैं मुझे ही क्यों तुम छोड़ते हो मुझ में ऐसी कौन सी अपात्रता है मैं ब्रह्मचरी का पालन किया हूं सात्विक भोजन करता हूं किसी तरह की सांसारिक झंझट में नहीं पड़ा हूं तुम मुझे छोड़ क्यों रहे हो मेरी अपात्रता कहां है बताओ रामानुज ने कहा तुमने सब किया होगा उससे पात्रता नहीं बनती वो तुम्हारा किया हुआ है सिर्फ एक चीज से पात्रता बनती प्रेम और तुम कहते हो तुमने प्रेम जाना ही नहीं अब जिसने प्रेम नहीं जाना उसको मैं मार्ग कैसे बताऊं क्योंकि प्रेम ही मार्ग है तुमने थोड़ा सा जाना होता है तो रास्ता खुलता था चाहे किसी के स्त्री के प्रेम में पड़ गए होते कोई दर्जा नहीं है तो भनक उसी बड़े प्रेम की छुद्र में उठी है लेकिन है तो विराट की जब तुम किसी स्त्री को सच में ही प्रेम करते हो तो स्त्री स्त्री नहीं रह जाती उसके भीतर कुछ दिव्यता का आविर्भाव हो जाता जब तुम किसी पुरुष को प्रेम करते हो तो वो पुरुष पुरुषोत्तम हो जाता है कम से कम तुम्हारे प्रेम के क्षणों में तो पुरुषोत्तम हो जाता है उन क्षणों में तो तुम उसे साधारण व्यक्ति नहीं मानते वो असाधारण हो जाता दैदी पैमान उसके भीतर एक प्रभा प्रकट हो जाती माना कि परमात्मा को पाने का बड़े दूर का रास्ता हुआ लेकिन बस यही रास्ता है ये प्रेम अभी प्रार्थना नहीं है लेकिन संभावना है हीरा हो तो निखारा जा सकता तरासा जा सकता हीरा हो ही नहीं तो क्या तरासिएगा क्या निखारिएगा सोना हो कितना ही मिट्टी में दबा हो कितना ही कूड़े करकट से मिला हो शुद्ध किया जा सकता जब तुम्हारा अशुद्ध प्रेम शुद्ध हो जाता है तो प्रार्थना बन जाता है प्रार्थना में ही परिभाषा है तेरे जमाल की तस्वीर खींच दू लेकिन जवा में आंख नहीं आंख में जवान नहीं होता है राजे इसको मोहब्बत इन्हीं से फास आंखें जबा नहीं है मगर बेजबा नहीं समझो तेरे जमाल की तस्वीर खींच दू लेकिन जवान में आंख नहीं आंख में जवान नहीं तेरी प्रतिमा तो बना दू तेरी आकृति तो निर्मित कर दू तेरी परिभाषा तो कर दू लेकिन विराट है तेरा ये रूप आंख से देख लेता हूं जवान से कहना चाहता हूं बस मुश्किल हो जाती है आंख मैं जवान नहीं आंख से देख लेता हूं तुझे लेकिन आंख के पास कहने की जबान नहीं है जवान से कहना चाहता हूं जवान में आंख नहीं और जवान ने देखा नहीं आंख ने देखा है और जवान कहना चाहती मुश्किल हो जाती कैसे कहूं इसलिए तुम मुझसे पूछते हो परिभाषा मैं कहता हूं मेरी आंख में देख लेना आंख ने देखा है उसे जवान ने उसे देखा नहीं जवान कह सकती लेकिन जो भी कहेगी वो अनुमान होगा होता है राजे इसको मोहब्बत इन्हीं से फास आंख के द्वारा ही प्रेम के रहस्य का पर्दा उठता है अगर तुम्हें प्रेमी को पहचानना है जरा उसकी आंख में झांकना उसकी आंख में तुम्हें एक खुमार मिलेगा उसकी आंख में एक मस्ती मिलेगी उस मस्ती से ही तुम्हें उसके प्रेम का दर्शन होगा होता है राजे इसको मोहब्बत इन्हीं से फास आंखें जबा नहीं है मगर बेजबा नहीं बड़ी मधुर बात है आंखों के पास जवान तो नहीं है ये बात सच है लेकिन ये कहना भी ठीक नहीं कि आंखें बेजबा है अगर कोई देखने वाला हो तो आंखों से संदेश मिल जाता है परिभाषा शाब्दिक होगी कितनी तो परिभाषाएं की गई हैं परमात्मा की तुम उन्हें कंठस्थ कर ले सकते हो पर कुछ हल ना होगा जाना पड़े अनुभव में जाना पड़े और जिस दिन तुम अनुभव में जाना शुरू करोगे उस दिन तुम पाओगे कि उसके अतिरिक्त और कोई मिलता ही नहीं गुलशन में फिरूं कि शहर सहरा देखूं या मादनो कोहो दस्तो दरिया देखूं हर जहां तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे हैरान हूं कि दो आंखों से क्या क्या देखूं जिस दिन थोड़ा अनुभव होगा उस दिन तुम पाओगे हर तरफ उसी के हजारों हजार उत्सव हो रहे हर जहां तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे हैरान हूं कि दो आंखों से क्या क्या देखू तब तो हजार आंखें भी हों तो भी तृप्ति ना होगी क्योंकि परमात्मा इतना विराट है सब तरफ उसी का नृत्य चल रहा है और तुम पूछते हो परमात्मा की परिभाषा क्या है और परमात्मा ही है सब तरफ और तुम पूछते हो परमात्मा की प्रतिमा क्या है और उसके अतिरिक्त और किसी की प्रतिमा नहीं है एक का ही खेल है लेकिन तुम्हारे प्रश्न को मैं समझा तुम्हारा प्रश्न न तो परमात्मा की परिभाषा से संबंधित है न परमात्मा की प्रतिमा से तुम्हारा प्रश्न असल में ये कह रहा है कि तुम्हारे पास आंखें नहीं है तुम अंधे हो तुम्हारी आंखें बंद या तुम सोए हो अगर कोई आदमी पूछने लगे कि सूरज की परिभाषा क्या है तो क्या समझोगे और कोई आदमी पूछने लगे कि सूरज कहाँ है और सूरज निकला है चारों तरफ उसकी रोशनी बरसती और कोई आदमी धूप में खड़ा है और पूछने लगे कि सूरज की परिभाषा और सूरज कहाँ है कोई मुझे परिभाषा दे दे तो हम क्या समझेंगे हम समझेंगे या तो इस आदमी की आंखें बंद है या अंधा है सूरज अनुभव है परिभाषा तो नहीं प्रकाश की कोई परिभाषा नहीं जाना हो तो जाना नहीं जाना तो नहीं जाना तो अभी एक बात जानना कि परमात्मा अभी जाना नहीं है और परिभाषाओं को पकड़ के मत सोच लेना कि जान लिया या जानना हो गया जानना हो तो प्रेम में चलना पड़े परिभाषा मत पूछो प्रेम का पता पूछो परिभाषा पंडित बना देगी और सदा सदा के लिए भटक जाओगे मैं तुमसे फिर फिर कहता हूं पापी भी पहुंच जाते हैं लेकिन पंडित नहीं पहुंचते प्रेम को प्रार्थना कहते हैं प्रेम को ही परमात्मा कहते हैं क्यों ऐसा है इसलिए क्यों का सवाल नहीं ऐसा है ऐसी सच्चाई है तुम्हारे जीवन में जो थोड़ी बहुत सुगंध कभी प्रेम की उठी हो तो जानना वहीं से द्वार मंदिर का खुलेगा उस दरवाजे को बंद मत कर देना तुम्हारे साधु संत चाहे तुमसे कुछ भी कहें उस दरवाजे को बंद कर दिया तो तुम फिर भटकोगे भटकते रहोगे और तुम्हें परमात्मा की कोई खबर न मिलेगी परमात्मा की जो पहली पुलक है उसका नाम ही प्रेम है परमात्मा का जो पहला अनुभव है परमात्मा शब्द भी उस अनुभव में नहीं आता उसी का नाम प्रेम है फिर प्रेम ही पवित्र होकर प्रार्थना बनता है फिर प्रार्थना पवित्र होकर परमात्मा बन जाती है ये प्रेम के ही चरण है ये प्रेम की ही सीढ़ी है काम इस सीढ़ी का सबसे नीचे का सोपान है और राम इस सीढ़ी का सबसे ऊपर का सोपान है मगर सीढ़ी एक काम से राम काम उसी का है धूल धूसरित राम भी वही है सब धूल पहुंचती गई झाड़ती गई स्वच्छ ताजा धर लिए प्यासे अधर पर आह के सागर प्यास पूरी इस मरुस्थल की नहीं होती पी लिया इस उम्र ने वह प्रेम गंगा जल अब इसे इच्छा किसी जल की नहीं होती तुम जो प्रेम के मार्ग से खोज रहे हो वो परमात्मा को ही खोज रहे हो नाम तुमने कुछ भी दिया हो इसलिए तो साधारणता प्रेम तृप्त नहीं करता और अतृप्त कर जाता कौन पति किस पत्नी से तृप्त हुआ है या कौन पत्नी किस पति से तृप्त हुई है या कौन माँ किस बेटे से तृप्त हुई है कौन मित्र किस मित्र से तृप्त है कारण पूछो क्या कारण है संसार में सभी लोग प्रेम करते और अतृप्ति का ही अनुभव होता कहीं तृप्ति नहीं होती क्योंकि प्रेम की जो खोज है वो परमात्मा से ही तृप्त हो सकती तुमने किसी को प्रेम किया प्रेम करते ही तुम्हारी जो आकांक्षा होती है गहरे में वो ये होती है कि ये व्यक्ति परमात्मा जैसा हो वो सिद्ध नहीं होता परमात्मा जैसा इसलिए अतृप्ति रह जाती बेस्वाद हो जाता है मन तिक्त हो जाता है तुम जब किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो तो तुमने देखा कि तुम्हारी आकांक्षा होती इससे सुंदर और कोई ना हो इससे श्रेष्ठ कोई और ना हो इससे सत्यतर कोई और ना हो तुमने परमात्मा की मांग कर ली तुमने सत्यम शिवम सुंदरियम को मांग लिया और निश्चित ही कोई व्यक्ति इस कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता तो धीरे धीरे प्रेमी हताश हो जाता वो कहता कि नहीं गलत जगह मांग लिया अमृत पीने गए थे और जो पिया तो पता चलता है कि अमृत तो कुछ भी नहीं जहर सिद्ध होता है फिर मन उचाट हो जाता फिर भागा भागा फिर कहीं और किसी और जगह किसी और प्रेम में पड़ जाए वहां खोज ले ऐसा जन्मों जन्मों तक मन का पक्षी उड़ता है नए नए स्थानों पर बैठता है एक सूफी फकीर को एक सम्राट मिलने आया सम्राट बहुत दिन से उत्सुक था मिलने को इस फकीर से और कई बार संदेशा भी भेजा था कि तुम आओ लेकिन फकीर कहता कि अगर मिलने को तुम उत्सुक हो तो तुम ही आओ मेरे आने से चूक हो जाएगी आने को मैं आ सकता हूं लेकिन साथ ना होगा क्योंकि जिज्ञासु जब आता है तो उसके आने में ही जिज्ञासा सघन होती प्रकट होती तुम इतना तो मूल्य चुकाओ तो अंततः सम्राट को आना पड़ा वो जब आया तो फकीर की झोपड़ी पर फकीर नहीं था उसकी पत्नी थी उसने कहा आप बैठे आप भी राजे मैं उन्हें बुला लाती हूँ वे पीछे खेत पर काम करने गए तो सम्राट ने कहा कि ठीक है तुम बोला लाओ सम्राट वहीं टहलने लगा उसकी पत्नी ने फिर कहा कि आप आए हमारे धन्य भाग पर बैठे तो उसने एक फटी पुरानी दरी बिछा दी कि आप बेराज है लेकिन सम्राट ने कहा कि मैं टहलूंगा तो बुला ला पति को वो बड़ी दुखी होकर पति के पास गई उसने पति को रास्ते पर कहा कि सम्राट कुछ अजीब है मैंने बार बार कहा कि बैठे विराजन दरी दरी भी बिछा दी मगर वो बैठता नहीं फकीर हंसने लगा उसने कहा कि वो दरी उसके बैठने योग्य नहीं उसके बैठने योग्य जगह होगी तभी बैठे तुमने बहुत जगह मन के पंछी को बिठाने की कोशिश की वो बैठ नहीं पाया प्रेम का पक्षी बहुत स्थानों पर बैठा बैठ नहीं पाया उठ उठाता है उसके योग जगह नहीं मिलती उसकी योग जगह तो परमात्मा ही है जब भी तुम प्रेम में पड़े तुम परमात्मा के ही प्रेम में पड़े लेकिन शायद तुमने ज्यादा की मांग कर ली बहुत थोड़े से अब किसी स्त्री से या किसी पुरुष से तुम परम सौंदर्य की मांग करो तो भूल हो जाएगी या परम सत्य की या परम श्रेयस की परम की मांग तो परमात्मा से ही हो सकती है तुमने इधर उधर मांग की तो मांग पूरी न होगी तो तुम अतृप्त हो जाओगे तो बेस्वाद हो जाएगा मन कड़वा हो जाएगा तिक्त हो जाएगा फिर तुम प्रेम पात्र बदलते रहोगे हम इसलिए तो कभी प्रेम में तृप्त नहीं हो पाते प्रेम तृप्त होता है प्रेम भी बैठता है सिंहासन पर पर अपने सिंहासन पर धर लिए प्यासे अधर पर आह के सागर सागर भी तुम पी जाओ प्यास लगी हो और आदमी सागर में हो तो जल जैसा ही तो लगता सागर का जल लेकिन उसके पीने से प्यास बुझती नहीं प्यास बढ़ती भूल के सागर का पानी मत पी लेना सागर का पानी पीने से प्यास बुझती नहीं बढ़ती और सागर के पानी के बिना आदमी जिंदा रह सकता है सागर का पानी पिया तो मरेगा निश्चित मौत हो जाएगी और सागर का पानी पानी जैसा लगता है सिर्फ दिखाई पड़ता है पानी जैसा पानी नहीं सागर का पानी भी पानी बन सकता है लेकिन बहुत तरह की शुद्धियों से गुजरेगा तब अभी जैसा है अभी तो बहुत खतरनाक है धर लिए प्यासे अधर पर आह के सागर प्यास पूरी इस मरुस्थल की नहीं होती पी लिया इस उम्र ने वह प्रेम गंगा जल अब इसे इच्छा किसी जल की नहीं होती और एक बार तुम्हें प्रेम का वास्तविक अर्थ समझ में आ जाए अनुभव में आ जाए एक बार प्रार्थना का स्वाद आ जाए पी लिया इस उम्र ने वह प्रेम गंगा जल फिर तुम्हें किसी और पानी की जरूरत न रह जाएगी जीसस के जीवन में उल्लेख है वे कुएं के पास गए थके मांदे हैं राह से यात्रा करके आ रहे हैं दूर से यात्रा करके आ रहे हैं कुएं पर पानी भरती एक स्त्री को उन्होंने कहा कि मुझे पानी पिला दे लेकिन उस स्त्री ने कहा कि मैं थोड़ी ओछी जात की हूँ शायद आप पीछे पछताएं कि मेरा पानी पी लिया जीसस ने कहा तू फिक्र तू मुझे पानी पिला दे और फिर मैं तुझे ऐसा पानी पिला सकता हूँ मेरा पानी कि तेरी प्यास सदा सदा के लिए बुझ जाए तेरे पानी से तो क्षण भर को मेरी प्यास बुझेगी लेकिन मेरे पानी से तेरी प्यास सदा को बुझ सकती जीसस जिस पानी की बात कर रहे हैं उसी को मैं प्रेम कहता हूं प्राण का यह दीप जलने के लिए है प्यार से अंतर पिघलने के लिए है बन अकिन पावड़े पलके बिछाए कान अपना ध्यान आहट पर लगाए पुलक में हर अंग होने को समर्पण आप मन भावन करो पावन वचन मन जैसे ही तुम थोड़े से प्रेम की सीढ़िया उतरे प्रेम का पाठ पढ़े भाई आकर प्रेम का पढ़े थोड़े से प्रेम में रसलीन हुए थोड़े थोड़े प्रार्थनापूर्ण कदमों से अस्तित्व की तरफ बढ़े थोड़े प्रार्थनापूर्ण हृदय से अस्तित्व के मंदिर की सांकल खटखटाई तो तुम पाओगे कि अब तक तुमने जो नहीं पाया था और बहुत द्वार खटखटाए थे वो मिलने लगा ये संसार प्रेम को सीखने का ही एक विद्यालय यहां तुम और कुछ भी सीख लो काम ना आएगा अगर तुमने प्रेम सीख लिया तो बस प्रेम से मेरा क्या अर्थ है प्रेम के तीन रूप समझने चाहिए एक तो प्रेम का रूप है काम काम प्रेम का निम्नतम रूप है देह से देह की आकांक्षा शरीर से शरीर का मिलन है तो मिलन मगर अत्यंत स्थूल का स्थूल से पदार्थ का पदार्थ से इसमें कोई बहुत विराट नहीं घट सकता है सिर्फ प्रेम का दूसरा रूप है जिसे हम प्रेम कहते हैं मन से मन का मिलन ऊपर थोड़ा हुआ विचार की तरंगों का जिससे मेल खा जाए तुम्हारी अनुभूति और जिसकी अनुभूति सांस सांस संग संग चलने लगे दो व्यक्तियों का हृदय सांस सांस धड़कने लगे देह दो हृदय एक हो जाए तो प्रेम वो भी अभी अंतिम रूप नहीं अंतिम रूप को मैं नाम देता प्रार्थना वो है आत्मा का आत्मा से मिलन शरीर से शरीर काम मन से मन प्रेम आत्मा से आत्मा प्रार्थना काम के तल पर शोषण चलता है तुम दूसरे का शोषण करते दूसरा तुम्हारा शोषण करता है काम के तल पर तुम दूसरे का उपयोग साधन की तरह करते प्रेम के तल पर तुम दूसरे के लिए साधन बन जाते काम के तल पर तुम दूसरे का उपयोग साधन की तरह करते हो पति पत्नी का उपयोग कर रहा है एक साधन की तरह बेटा बाप का उपयोग कर रहा है एक साधन की तरह तुम्हारे हित में है इसलिए तुम प्रेम करते हो प्रेम जैसे रुस्बत है शोषण की व्यवस्था है मन के तल पर तुम साधन बन जाते तुम जिससे प्रेम करते तुम उसके लिए साधन बन जाते वह साध्य बन जाता आत्मा के तल पर न तुम साधन रह जाते न दूसरा साधन रह जाता दूरी ही मिट जाती कौन साधन कौन साध्य निश्चित रूप से एक हो जाते ऐसा समझो कि दो दियो को हम करीब रख दें तो काम दोनों दियों के तेल को मिला दे तो प्रेम और दोनों दियों की ज्योति प्रकाश एक दूसरे में लीन हो जाए तो प्रार्थना दो दियों को कितना ही पास रखो दूरी रहेगी फटा के रख दो फिर भी दूरी रहेगी उससे सदा के लिए एकात्म नहीं हो सकता लेकिन तुमने देखा जब दो दियों का प्रकाश टकराता भी नहीं अगर तुम एक कमरे में दो दिए जला दो तो खटर पटर भी नहीं होती तुम दो दियों का तेल एक दूसरे में मिलाओगे तो थोड़ी आवाज होगी थोड़ा शोरगुल मचेगा लेकिन दो दियों का प्रकाश जब एक दूसरे में लीन हो जाता तो कुछ पता नहीं चलता दिए दो होंगे लेकिन उनकी रोशनी तो बिल्कुल एक हो जाती बिल्कुल एक हो जाती मैंने सुना एक सम्राट के तीन बेटे थे और वो चाहता था कि अपने किसी बेटे को चुन ले जो उसके राज्य का मालिक हो सम्राट बूढ़ा हो गया था तो उसने फकीर से सलाह ली फकीर ने कहा इनको हजार हजार रुपए दे दो तीनों बेटों के तीन महल थे उसने कहा ये हजार हजार रुपए लो और इस तरह से कुछ चीज खरीदो कि तुम्हारा पूरा महल भर जाए मगर हजार रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करना इससे तुम्हारी कुशलता का पता चलेगा जो जीत जाएगा वही इस राज्य का मालिक होगा पहले बेटे ने बहुत सोचा कि हजार रुपए में इतना बड़ा महल सिवा कूड़ा करकट के और तो कुछ मिल ही नहीं सकता हजार रुपये तो ढोने में लग जाएगा कूड़ा करकट जब पूरा महल भरना तो वो तो गया तो उसने जाके जहां म्यूनिस्पल कचरा फेंकती होगी गांव भर का वहां से सब बैलगाड़ियों में भरवा भरवा के महल में पूरा कचरा भर दिया क्योंकि इससे और तो सस्ती कोई चीज हो नहीं सकती थी मुफ्त था सिर्फ ढोने का खर्च था धोने में हजार रुपए खर्च हो गए महल भर दिया उसने भयंकर बदबू उठने लगी राह से लोगों ने चलना बंद कर दिया उसके महल के आसपास लोग ना जाते वो भी अपने बाप से प्रार्थना करने लगा कि अब जल्दी वो परीक्षा हो जाए क्योंकि मैं भी मरा जा रहा हूं तुमने कहा का उपद्रव करवा दिया है दूसरे बेटे ने बहुत सोचा उसने कहा कि कूड़ा करकट से घर को भरना तो अपात्रता का लक्षण होगा क्या करना कैसे घर को भरे घर तो भरना चाहिए फूलों से कूड़े से तो नहीं तो उसने फूल खरीदे लेकिन हजार में कितने खरीद सकता था महल बड़ा था भरने की तो बात दूर रही ऐसे छिटक दिए सारे महल में फूल तीसरे बेटे ने कुछ भी उपाय ना किया जिस दिन बाप आया तब तक उसने कुछ भी ना किया था और गांव भर में चिंता फैलने लगी कि ये तीसरा बेटा हार जाएगा कुछ करके नहीं रहा है बैठा क्यों तीसरे दिन उसने तो दिए के दिए जलाए घी के दिए जलाए सारे महल में बाप फकीर को लेके आया फकीर ने पहले बेटे को कहा कि इसने बात तो पूरी कर दी घर तो भर दिया लेकिन जिस चीज से भर दिया उससे सिर्फ अयोग्यता सिद्ध होती इसने गणित तो पूरा कर दिया लेकिन समझ इसके पास नहीं है तर्क तो इसने पूरा कर दिया कि घर भर दिया लेकिन जिस चीज से भरा है इसका इसने कोई विचार ना किया इस व्यक्ति के जीवन में गणित तो है गुण नहीं तर्क तो है बोध नहीं है यंत्रवत है इसकी बुद्धि इसको राज्य देना ठीक नहीं वो दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचे उसने महल में फूल रखे थे लेकिन फूल सब मुरझा गए थे कई दिन हो गए थे सड़ने लगे थे उनसे दुर्गंध उठने लगी थी और महल भरा भी नहीं था तो फकीर ने कहा ये पहले से बेहतर है इसके पास थोड़ी गुण बुद्धि है फूल लाया लेकिन इसके पास दूरदृष्टि नहीं कि फूल सड़ जाएंगे फूल तो तभी सुंदर जब ताजे सच तो ये फूल तो वृक्ष पर ही सुंदर होते तोड़े की मरे कि उनका सड़ना शुरू हुआ इसने सोच विचार तो थोड़ा किया दूरदृष्टि है लेकिन गणित इसका कमजोर है दूरदृष्टि नहीं है और गणित भी कमजोर है मकान पूरा भरा भी नहीं पहले का गणित मजबूत है गुण का कोई बोध नहीं इसे गुण का बोध है गणित कमजोर है और दूरदृष्टि बिल्कुल नहीं ये खतरनाक है इसको भविष्य का पता नहीं रहेगा ये राज्य को खतरे में डाल सकता है वे तीसरे बेटे के पास गए राजा तो थोड़ा चिंतित होने लगा कि अगर ऐसा मामला हुआ तीनों बेटे कहीं अयोग सिद्ध कर दिए इस फकीर ने तो फिर मैं क्या करूंगा तीसरे बेटे के महल में जाकर राजा तो खड़ा हो गया उसकी तो समझ में ना यार महल पूरा खाली था उसने कहा ये क्या मामला है तुमने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया बेटे ने कहा मैंने भाग लिया जरा गौर से देखे फकीर बोला कि मैं देख लिया हूं राजा तुम्हारी समझ में ना आएगा इसने महल भर दिया रोशनी से भर दिया है एक एक कोने कांटे में रोशनी है कोई जगह खाली नहीं महल तो भरी दिया महल के बाहर तक रोशनी पहुंच रही बगीचा भी भरा है राह भी भरी है इस बेटे के पास गणित भी है गुण बोध भी है भविष्य दृष्टि भी इसने पहले से कुछ नहीं किया अभी हम आए अभी हम आ ही रहे थे रास्ते पे कि तब इसने दिए जलवा दिए इसके पास समय की भी समझ है हजारों दिए जलाए थे उसने हजार रुपए में खूब दिए जल गए थे और घी के जलाए थे दिए तो बहुत थे लेकिन रोशनी एक थी और उस फकीर ने कहा इस बेटे में थोड़ा अद्वैत का बोध दीजिए इतने दिए लेकिन रोशनी एक इसने एक से ही भर दिया है पूरे महल को यह बेटा योग है काम है दो शरीर का मिलना और अंत में कचरा ही सिद्ध होता है दुर्गंध पैदा होती काम से कब सुगंध उठी काम से विषाद होता है पश्चाताप होता है काम आज नहीं कल श्राम देने लगता है प्रेम काम से बेहतर है थोड़े फूल हैं प्रेम में कूड़ा कचरा नहीं लेकिन मन के फूल कितनी देर जिएंगे मन स्वयं क्षण भंगुर है मन कोई टिकने वाला तो नहीं शाश्वत और नित्य से मन का कोई संबंध नहीं तो आज फूल कल मुरझा जाते तुमने देखा पश्चिम में जहां लोग प्रेम को बहुत मूल्य देते हैं पूरब से ज्यादा मूल्य देते हैं वहां बड़ी अड़चन है विवाह मुरझा मुरझा जाता है तलाक हो हो जाते हैं पूरब में लोग विवाह को मूल्य देते हैं प्रेम को मूल्य नहीं देते तो विवाह स्थायी होता है विवाह पहले तल पर है वो दो शरीरों का मिलन है न तो मनुष्य से पूछा जाता पुरुष से पूछा जाता ना स्त्री से पूछा जाता माँ बाप तय करते हैं पंडित पुरोहित ज्योतिषी तय करते धन पैसा है या नहीं कुलीन परिवार है नहीं स्वास्थ्य ठीक है या नहीं पढ़ाई लिखाई ठीक हुई या नहीं प्रतिष्ठा कैसी है दुकान कैसी चलती सब बातें सोच के तय करते प्रेम भर के बाबत नहीं सोचते ग्रह नक्षत्र भी सोचते बड़ी दूर की सोचते पास की बिल्कुल नहीं सोचते प्रेम का संबंध कोई मामला बात ही नहीं उठाते कि इस लड़के को लड़की से प्रेम है लड़के को लड़की से कि लड़की को लड़के से किसी से प्रेम है प्रेम की बात ही नहीं उठाते क्योंकि पूरब एक बात समझ गया प्रेम का मामला बड़ा खतरनाक है क्योंकि फिर विवाह स्थिर नहीं हो पाता प्रेम है मन की बात मन अथिर है शरीर कम से कम थोड़ा थिर है टिकता है सत्तर साल तो टिकता है थोड़े बहुत फर्क होते रहते लेकिन ऐसे टिकता है मन तो घड़ी भर में बदल जाता है अभी जिस स्त्री के लिए जान देने को तैयार थे क्षण भर बाद बात खत्म हो गई इसलिए पश्चिम में विवाह अस्त व्यस्त हो गया परिवार डमाडोल हो गया लोगों ने प्रेम को मूल्य दिया है लोग कहते हैं प्रेम होगा तो सांस पूरब में लोग कहते हैं अपनी पत्नी के सिवाय किसी स्त्री से कोई संबंध बनाया तो पाप पश्चिम में लोग कहने लगे हैं जिससे प्रेम नहीं उसके साथ कोई संबंध बनाया तो पाप फिर चाहे वो तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो अगर उससे प्रेम नहीं है तो उसके साथ सोना पाप और जिससे प्रेम है वो चाहे तुम्हारी पत्नी ना भी हो उसके साथ सोना पुण्य ये बड़ी दूसरी नीति है पूरब की नीति शरीर के तल पर खड़ी पश्चिम की नीति मन के तल पर लेकिन पूरब की नीति ज्यादा चिरस्थाई वो जो पहला आदमी था जिसने कचरे से भर लिया था महल को उसका कचरा बहुत चिरस्थाई दूसरे ने फूल से भरा था वो बड़े भंगोरे असल में जितनी सुंदर चीज हो उतनी जल्दी कुमला जाती पत्थर तो वहीं पड़े रहेंगे फूल सुबह खिले सांझ गिर जाएंगे विवाह पत्थर जैसा है प्रेम विवाह फूल जैसा है लेकिन खतरा भी है फिर नहीं हो पाएगा इसलिए पश्चिम की पूरी व्यवस्था डमाडोल हो गई पूरब थिर है सदियां बीत गई मनु महाराज से लेके अब तक सब थिरता है पश्चिम में कुछ भी थिर नहीं है सब डमाडोल है जितने लोग विवाह करते हैं उनमें से आधे लोग तीन साल के भीतर तलाक दे देंगे अब ऐसा आदमी तो खोजना ही मुश्किल है जो एक ही पत्नी के साथ टिक रहा है पत्नियां न मालूम कितने पत्नियों के पास गई हैं पति न मालूम कितनी पत्नियों के पास गए हैं बच्चों की भीड़ बढ़ती जाती है तय भी करना मुश्किल हो जाता है कौन किसका बच्चा है मैंने सुना एक पत्नी अपने पति से कह रही थी कि देखो रुकावट डालो तुम्हारे बच्चे और मेरे बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को पीट रहे कुछ बच्चे पति के हैं जो वो दूसरी पत्नियों से लाया है कुछ पत्नी के हैं जो किन्हीं दूसरे पत्नियों से लाई कुछ इन दोनों के में तो वो कह रहे कि तुम्हारे बच्चे हमारे मेरे बच्चों से मिलकर हमारे बच्चों को पीट रहे हैं इनको रोको रुकावट डालो पश्चिम में सब अस्त व्यस्त हुआ है फिर और एक ऊपर की बात है आत्मा के मिलन की वहां प्रार्थना पैदा होती वैसा प्रेम मीरा ने जाना कि चैतन्य ने कि राधा ने वैसा प्रेम भक्तों ने जाना उठना चाहिए उसी तक प्रेम जहां दो प्रकाश की तरह मिलन हो जाए कोई संघर्षण ना हो मिलन शांत सहज हो और जब तुम किसी एक व्यक्ति से भी आत्मा के तल पर मिल जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा जब एक से मिलने में इतना आनंद है तो फिर सर्व से मिल जाने में कितना आनंद न होगा फिर तो तुम गणित को स्वयं ही फैला लोगे तुम कहोगे जब एक व्यक्ति के प्राणों से प्राण मिला लेने में इतने सुख का सौरभ इतना स्वर्ग तो फिर क्या कंजूसी करनी है फिर क्यों ना वृक्षों से चांतारों से पहाड़ पत्थरों से नदी नालों से सबसे क्यों न मिला लें अपने प्राण को तो एक व्यक्ति से भी प्रेम अगर ठीक से हो जाए तो झरोखा परमात्मा का खुलता है फिर वहीं से छलांग लग जाती यह किसका तबस्सुम है फजा में साकी यह किसकी जवानी है घटा में साकी यह कौन बजा रहा है सीरी पर बस भीगी हुई बारिश की हवा में साकी फिर प्रेम से भरे हुए आदमी को हर जगह उसकी ही पग ध्वनि सुनाई पड़ती घटाओं में बिजलियों में सब जगह उसके ही घूंगर बजते मालूम होते यह किसका तबुस्सम है फजा में साकी फिर हवा का झोंका भी आए तो उसी की खबर आती उसी के संदेश उसी की पाती यह किसकी जवानी है घटा में साकी फिर घटा घुमड़ के उठे है तो भी वही उठता सब अंगड़ाइया उसकी सब फूल उसके सब पत्ते उसके यह कौन बजा रहा है सीरी पर बस फिर जो भी संगीत गूंज रहा है अस्तित्व में उसी का है वही बजा रहा ये बांसुरी उसकी ये वेणु उसकी भींगी हुई बारिश की हवा में साकी और फिर भींगी हुई बारिश से हवा की तो भी उसके ही स्पर्श का पता चलता उसके ही होने की गंधा थी पृथ्वी से और आकाश से उसके ही होने की खबर आती हर घड़ी में सोते जागते उठते बैठते वही घेरे रहता है लेकिन परिभाषा इस तत्व की नहीं हो सकती प्रेम में अनुभव हो सकता है परिभाषा मत मांगो प्रेम मांगो परिभाषा के कूड़ा करकट को लेके क्या करोगे बोझ बढ़ जाएगा बुद्धि का निर्भर ना हो सकोगे प्रेम मांगो कि पंख बने प्रेम मांगो कि उड़ सको मेरे साकी शराबे साफी देना हो जिससे गुनाह की तलाफी देना उतरे न खुमार जिंदगी भर जिसका ऐसी देना और इतनी काफी देना मांगो प्रेम की शराब उतरे न खुमार जिंदगी भर जिसका ऐसा नशा मांगो जो फिर उतरे ना चढ़े तो चढ़े उतरे ना ऐसी देना और इतनी काफी देना मांगो प्रेम मत मांगो परिभाषा और जिस दिन तुम्हारे पास प्रेम है उस दिन तुम्हारे पास सब है और जब तक तुम्हारे पास प्रेम नहीं सब भी हो तो कुछ भी नहीं चाहे बरसे जेठ अंगारे या पतझर हर फूल उतारे अगर हवा में प्यार घुला है हर मौसम सुख का मौसम है जिसके पास शब्द हैं जितने उतना उससे अर्थ दूर है पट घूंघट का नहीं रूप तो आत्मा का जलता कपूर है दुनिया क्या है एक वहम है सबनम में मोती होने का और जिंदगानी है जैसे पीतल पर पानी सोने का किंतु प्यार यदि सांस सफर में तो सचमुच इस मृत्यु नगर में शाम सुबह की एक कसम है मरण मनुष्य का एक जन्म है नया जन्म है चाहे बरसे जेठ अंगारे या पक्षर हर फूल उतारे अगर हवा में प्यार घुला है हर मौसम सुख का मौसम है इधर प्यार की वीणा का बजना शुरू हो जाए फिर वसंत ही वसंत उसी वसंत में उस प्रभु की पहचान आती है जिसके पास शब्द हैं जितने इसलिए परिभाषा मत मांगो सिद्धांत शास्त्र मत मांगो जिसके पास शब्द हैं जितने उतना उससे अर्थ दूर है शब्दों का बहुत समूह संग्रह मत कर लो उससे पांडित्य तो बनेगा प्रतिभा ना जगेगी पट घूंगट का नहीं रूप तो आत्मा का जलता कपूर है दुनिया क्या है एक वहम है सबनम में मोती होने का यही तो मैं तुमसे कह रहा इतनी देर से कि जहां जहां तुमने अभी प्रेम देखा है वहां सबनम में मोती देख लिया है खोज तो परमात्मा की ही चल रही खोज तो मोती की ही चल रही लेकिन सुबह की धूप में कभी देखा घास पर फैली हुई ओस की बूंदे मोतियों जैसी मालूम पड़ती सुबह की धूप में मोतियों को भी झेपा दे मोतियों को भी शर्मा दे दूर से ही लेकिन पास गए तो उसकी बूंद उसकी बूंद है मोती नहीं दुनिया क्या है एक वहम है सबनम में मोती होने का और जिंदगानी है जैसे पीतल पर पानी सोने का जिंदगी को थोड़ा गौर से देखो तो ये ऊपर ऊपर जो पीतल के ऊपर चढ़ा हुआ सोने का पानी है ये उतर जाए जरा पास आओ जिंदगी को जरा होश से देखो तो जो बूंदे सबनम की है वो मोती न मालूम हो तो तुम्हारी खोज धीरे धीरे सब तरफ से परमात्मा की तरफ जाने लगेगी उसकी ही खोज है जो शाश्वत है उसकी ही खोज है जो सनातन है उसकी ही खोज है जो अमृत है तो परमात्मा क्या है परमात्मा अमृत की प्यास है परमात्मा क्या है परमात्मा तुम्हारे भीतर सनातन की खोज है शाश्वत की खोज है परमात्मा की प्रतिमा क्या है ये जो गवेषणा में आतुर जिज्ञासा और मुमुक्षा से भरा हुआ खोजी इसी में परमात्मा की प्रतिमा है कहीं और नहीं पत्थरों में नहीं मंदिर की मूर्तियों में नहीं इस पुजारी में जो परमात्मा की पूजा में लगा खोज रहा है जगह जगह अर्चना अपनी चढ़ा रहा है हर जगह से जिसकी चेष्टा चल रही कि परमात्मा को पहचान लू इसमें ही उसकी प्रतिमा है कबीर ने कहा है भक्त में भगवान है महावीर ने कहा है अप्पा सो परमप्पा वो जो आत्मा है उसी में परमात्मा है परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम किसी दिन देख लोगे तुम्हारे ही भीतर जिस दिन प्रेम का ऐसी घटा उठेगी कि बेसर्त तुम्हें सारे अस्तित्व को प्रेम कर पाओगे इस अस्तित्व से तुम्हारे चित्त का कोई विरोध कोई संघर्ष न रह जाएगा इस अस्तित्व से जिस दिन तुम्हारा सहयोग परिपूर्णता से सद जाएगा जिस दिन एक संवाद होगा तुम्हारे और अस्तित्व के बीच उसी दिन तुम जानोगे परमात्मा क्या है तुम भी परमात्मा हो और से सब भी परमात्मा है इस नशे की तरफ चलो इस प्रेम के सागर में डुबकी लगाओ यारो खता मुआफ मेरी मैं नशे में हूं सागर में मैं है मैं में नशा मैं नशे में हूं भक्त तो एक नशे में जीता है परमात्मा नशा है पंडित के लिए परमात्मा एक सिद्धांत है बकवास कोरी बकवास आस्तिक और नास्तिक के चक्कर में मत पड़ना कि परमात्मा है या नहीं ये व्यर्थ के लोगों को छोड़ दो जिनके पास कुछ और करने को नहीं वो होने न होने का विवाद करते रहे अनुमान लगाते रहे अगर तुम्हारे जीवन का ठीक ठीक सदुपयोग तुम्हें कर लेना है तो तुम प्रेम में उतरो अगर तुम पाओ कि प्रेम में उतरना कठिन है तो ध्यान में उतरो ध्यान भी एक दूसरा मार्ग है उसी तरफ आने का जो प्रेम करने में अपने को असमर्थ पाते हैं उनके लिए ध्यान मार्ग है जो प्रेम में अपने को समर्थ पाए उन्हें फिर किसी चिंता में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है चौथा प्रश्न मृत्यु का बड़ा भय है क्या इससे छूटने का कोई उपाय है मृत्यु तो उसी दिन हो गई जिस दिन तुम जन्मे अब छूटने का कोई उपाय नहीं जिस दिन पैदा हुए उसी दिन मरना शुरू हो गया अब एक कदम उठा लिया अब दूसरा तो उठाना ही पड़ेगा जैसे कि प्रत्यंचा से तीर निकल गया तो अब लौटाने का क्या उपाय जन्म हो गया तो मौत से बचने का कोई उपाय नहीं जिस दिन तुम्हारी ये बात समझ में आ जाएगी कि मौत तो होनी ही है सुनिश्चित होनी और सब अनिश्चित है मौत ही निश्चित है उसी दिन भय समाप्त हो जाएगा जो होनी है उसका क्या भय जो होकर ही रहनी है उसका क्या भय जिसको टाला ही नहीं जा सकता उसका क्या भय जिसको अन्यथा किया ही नहीं जा सकता उसका क्या भय आशंका है तुम्हें जिस दुर्घटना की घट चुकी है वह पहले ही भीतर केवल आएगा तैर कर गत आगत की सतह पर हो चुका है पहले ही काम मर गए तुम उसी दिन जिस दिन जन्मे जिस दिन तुमने सांस ली उसी दिन सांस छूटने का उपाय हो गया अब सांस किसी भी दिन छूटेगी तुम सदा न रह सकोगे इसलिए इस भय को समझने की कोशिश करो बचने की आशा मत करो बचने को तो कोई नहीं बच पाया कितने लोगों ने कितने उपाय किए बचने के नादिर शाह इतना बड़ा लड़ाका था खूखार हजारों लोगों की हत्याएं की मगर खुद की मौत से डरता था बारी डर था उसे दूसरे की मौत तो कोई बात ही ना थी कहते हैं एक रात एक वैश्या उसके शिविर में नाच करने आई और जब लौटने लगी तो रात देर हो गई दो बज गए और वो डरने लगी उसने कहा रास्ते में अंधेरा है और मेरा गांव दूर है मैं कैसे जाऊं तो नादिर शाह ने कहा कि तू फिक्र मत कर तू कोई साधारण व्यक्ति के दरबार में नाचने आई उसने अपने सैनिकों को कहा कि रास्ते में जितने गांव है सब में आग लगा दो ताकि ये वैश्या अपने गांव तक रोशनी में जा सके पांच सात गांव में आग लगवा दी गांव के सोते लोग जल गए लेकिन रास्ते पर रोशनी करवा दी दूसरे की मौत तो जैसे खिलवाड़ थी लेकिन खुद की मौत की बड़ी घबराहट थी इतना घबराया रहता था मौत से कि रात भी ठीक से सो नहीं सकता था और इसी घबराहट में मौत हुई जब हिंदुस्तान से वापस लौट रहा था और एक रात एक शिविर में तंबू के भीतर सोया था तो रात में एक डाकू घुस गया अंदर वो किसी की जान लेने को उत्सुक न था वो तो कुछ सामान चुराने को उत्सुक था लेकिन उसकी मौजूदगी और घबराहट में घोड़े हिनहनाने लगे और सैनिक भागने लगे कुछ घबराहट ऐसी फैल गई अंधेरी रात में कि लोग समझे कि बहुत दुश्मन है कि नादिर शाह घबरा के बाहर भागा तंबू की रस्सी से पैर फंस गए तो वो समझा किसी ने पैर पकड़ लिया और उसी घबराहट में उसका हृदय का हृदय की धड़कन बंद हो गई वो गिर पड़ा कोई ने पकड़ा नहीं किसी ने मारा नहीं किसी ने कुछ किया नहीं सिर्फ पैर फंस गया तंबू की रस्सी में वो समझा कि गए जान उसी घबराहट में मरा आदमी बचने के कितने उपाय करे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दूसरों को मानने की उत्सुकता उन्हीं लोगों में होती है जो अपने को बचाने के लिए बड़े आतुर होते हैं जिनको ये ख्याल होता है कि हम जिंदगी तो नहीं बना सकते लेकिन कम से कम लोगों को मार तो सकते हैं मृत्यु तो कर सकते हैं दूसरों की दूसरों को मारने से ऐसा लगता है कि हम शायद मृत्यु के मालिक हो गए देखो कितने लोग मार डाले मृत्यु हमारे कब्जे में इससे भ्रांति पैदा होती है कि शायद मृत्यु हमें क्षमा कर देगी नहीं न धन से जाती न पद से जाती न शक्ति से जाती कोई उपाय मृत्यु से बचने का नहीं तुम पूछते हो मृत्यु का बड़ा भय है क्या इससे छूटने का कोई उपाय है छूटने का उपाय करते रहोगे भय बढ़ता जाएगा तुम छूटने का उपाय करोगे मौत रोज करीब आ रही क्योंकि बुढ़ापा रोज करीब आ रहा है तुम जितने उपाय करोगे उतने ही घबराते जाओगे मुझसे तुमने पूछा है अगर और मेरी बात अगर समझ सको तो मैं तुमसे कहूंगा मौत को स्वीकार कर लो छूटने की बात ही छोड़ो जो होना है होना है उसे तुम स्वीकार कर लो उसे तुम इतने अंतरतम से स्वीकार कर लो कि उसके प्रति विरोध न रह जाए वही भय समाप्त हो जाएगा मृत्यु से तो नहीं छूटा जा सकता लेकिन मृत्यु के भय से छुटकारा हो सकता है मृत्यु तो होगी लेकिन भय आवश्यक नहीं है भय तुमने पैदा किया है वृक्ष तो भयभीत नहीं है मौत उनकी भी होगी क्योंकि उनके पास सोच विचार का बुद्धि नहीं पशु तो चिंता में नहीं बैठे उदास नहीं बैठे हैं कि मौत हो जाएगी मौत उनकी भी होगी मौत तो स्वाभाविक है वृक्ष पशु पक्षी आदमी सभी मरेंगे लेकिन सिर्फ आदमी भयभीत है क्योंकि आदमी सोचता कि किसी तरह बचने का उपाय हो जाए कोई रास्ता निकल आए तुम जब तक बचना चाहोगे तब तक भयभीत रहोगे तुम्हारे बचने की आकांक्षा से ही भय पैदा हो रहा स्वीकार कर लो मौत है होनी है तो जब होनी है हो जाएगी और हर्जा क्या है जन्म के पहले तुम नहीं थे कोई तकलीफ थी कभी इस तरह सोचो जन्म के पहले तो तुम नहीं थे कोई तकलीफ थी मौत के बाद तुम फिर नहीं हो जाओगे तकलीफ क्या होनी जैसे जन्म के पहले थे वैसे ही मौत के बाद फिर हो जाओगे जो जन्म के पहले हालत थी वही मौत के बाद हालत हो जाएगी जब तक तुमने पहली सांस न ली थी तब तक का तुम्हें कुछ याद है कोई परेशानी कोई झंझट ऐसी ही जब आखिरी सांस छूट जाएगी उसके बाद भी क्या झंझट क्या परेशानी सुकरात मरता था किसी ने पूछा कि घबरा नहीं रहे आप सुकरात ने कहा घबराना क्या या तो जैसा आस्तिक कहते हैं आत्मा अमर है तो घबराने की कोई जरूरत ही नहीं आत्मा अमर तो क्या घबराना या जैसा कि नास्तिक कहते हैं कि आत्मा मर जाती है तो भी बात खत्म हो गई जब खत्म ही हो गए तो घबराना किसका घबराएगा कौन बचे ही नहीं तो न रहा बांस न बजेगी रही तो सुकरात ने कहा दोनों हालत दोनों में से कोई ठीक होगा और तो कोई उपाय नहीं या तो आस्तिक ठीक या नास्तिक ठीक आस्तिक ठीक तो अमर है बात खत्म हुई चिंता क्या करनी नास्तिक ठीक तो बात खत्म ही हो जानी चिंता किसको करनी किसकी करनी सुकरात ने कहा इसलिए हम निश्चिंत हैं जो भी होगा ठीक है तुम बचने की कोशिश ना करो मौत तो होगी लेकिन तुमसे मैं कहना चाहता हूं मौत तुम्हारी नहीं होगी तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ तो तुम्हारी मौत कैसे होगी शरीर का जन्म हुआ शरीर की मौत होगी तुम्हारा चैतन्य अजन्मा है और अमृत धर्म है तुम्हारी उलझन सारी यह है कि तुमने शरीर को अपना होना समझ लिया है मौत असली सवाल नहीं है असली सवाल है शरीर को समझ लिया कि ये मैं हूं नीरव की अर्चा रव से जीवन की चर्चा सव से जैसे कोई शोरगुल से आशा कर रहा है शांति की ऐसे कोई सौ से बातें कर रहा है जीवन की नीरव की अर्चा रव से जीवन की चर्चा सौ से इस मुर्दे को तुम जीवित समझे हो इसलिए अड़चन हो रही मुर्दा तो मुर्दा है अभी भी मरा हुआ है रोज मर रहा है तुम्हें ख्याल नहीं है क्योंकि तुम ख्याल देना नहीं चाहते तुम डरते हो ये तुम्हारे सिर में बाल उगते दाढ़ी में बाल उगते ये तुमने कभी ख्याल किया इनको तुम काटते हो दर्द नहीं होता ये तुम्हारे शरीर का मुर्दा हिस्सा है जो शरीर बाहर फेंक रहा है नखून काटते हो दर्द नहीं होता ये जिंदा हिस्सा नहीं है मलमूत्र रोज बाहर जा रहा है ये सब मरा हुआ है इसका शरीर में से रोज मर रहा है कुछ तुम रोज भोजन लेके नया जीवन थोड़ा सा डालते हो थोड़ी देर जीवन सरकता है फिर रोज में मुर्दा कुछ हिस्सा निकल जाता है वैज्ञानिक कहते हैं सात साल में आदमी का पूरा शरीर मर जाता है फिर दूसरा शरीर सत्तर साल की उम्र में दस बार शरीर मर जाता है पूरा का पूरा बदल जाता है एक एक कण बदल जाता है कुछ नहीं बचता पुराना सब नया होता रहता है शरीर तो रोज मर रहा है शरीर की तो प्रक्रिया मृत्यु है इस शरीर के पार एक चैतन्य की दशा है मगर उसका तुम्हें कुछ पता नहीं तुम वही हो और तुम्हें उसका पता नहीं तुम्हें आत्मस्मरण नहीं ये मत पूछो कि मौत के लिए हम क्या करें इतना ही पूछो कि हमारे भीतर शरीर के पार जो है उसे जानने के लिए क्या करें मृत्यु से बचने की मत पूछो ध्यान में जगने की पूछो अगर तुम्हें इतना पता चल जाए कि मैं भीतर चैतन्य हूं तो फिर शरीर ठीक है तुम्हारा आवाज है घर को अपना होना मत समझ लो और जैसे ही तुम्हें ये बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी तुम्हारे भीतर अपूर्व क्रांति घटित होगी नर बन नारायण स्वर बन रामायण और तब तुम अचानक पाओगे तुम्हारे भीतर जो तुमने नर की तरह जाना था वो नारायण और जो तुमने स्वर की तरह जाना था वो रामायण शरीर तो मिट्टी है मिट्टी से बना है मिट्टी में विदा हो जाए मिट्टी नीरव मिट्टी कलरव मिट्टी गतभव मिट्टी चिरनव मिट्टी से बनता है मिट्टी में गिरता है फिर उठता है फिर गिरता है ये सब सृजन मिट्टी का है ये सब खेल मिट्टी का है तुम इस मिट्टी के दिए को अपना होना मत समझ लो इस मिट्टी के दिए में जो तेल भरा है वो तुम्हारा मन है उसे भी तुम अपना होना मत समझ लो उस तेल में जो बाती पड़ी है बाती पर जो ज्योति चल रही वही ज्योति तुम हो माना कि दिए और तेल के बिना ज्योति तिरोहित हो जाती लेकिन दिया और तेल ही ज्योति नहीं है ज्योति के प्रकट होने के लिए दिए और तेल की जरूरत होती तुम्हारे प्रकट होने के लिए शरीर और मन की जरूरत होती ये आवश्यक है तुम्हारे अभिव्यक्ति के लिए तुम्हारे अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है तुम्हारा अस्तित्व इनसे पार है उस पार का तुम्हें बोध होने लगे तो मृत्यु से कोई भय न रह जाएगा तब तुम जानोगे मृत्यु होती ही नहीं शरीर के तल पर मृत्यु सुनिश्चित है आत्मा के तल पर मृत्यु ना कभी हुई है ना हो सकती इतना ही तुम पहचान लो कि तुम आत्मा हो तिफली देखी इस आप देखा हमने हस्ती को हवा दे आप देखा हमने जब आंख हुई बंद तो उगदा या खुला जो कुछ भी देखा सो ख्वाब देखा हमने अभी तुम जैसे जिंदगी समझ रहे हो वो सपने से ज्यादा नहीं जब आंख हुई बंद तो उगदा ये खुला मरते वक्त तुम जानोगे जब आंख सच में बंद होगी तब ये राज खुलेगा जो कुछ की देखा सो ख्वाब देखा हमने जिंदगी जिसको समझते थे वो सपना सिद्ध हुई और इस जिंदगी के भीतर जो सत्य छिपा था सपने में इतने उलझे रहे कि सत्य को कभी देखा नहीं कुछ पंद और नसीहत ने भी तामीर न की दुनिया के किसी काम में ताखीर न की दिन रात यहीं के साज और सामा में रहे जाना है कहा कुछ इसकी तदबीर ना की फिर भटकोगे मौत से मत घबराओ अगर तुम्हारे जीवन में सच में ही समझने की कोई आकांक्षा है तो इतनी बात समझ लो कि ये जिससे तुम जिंदगी समझ रहे हो दिन रात यहीं के साज और सामा में रहे ये भ्रांति है मौत इसी को छीन लेगी धन छीन लेगी पद छीन लेगी नाम छीन लेगी यश छीन लेगी अगर तुमने नाम पद यश धन को ही समझा कि मेरा होना है तो तुम मरे तो तुम घबराना तुम्हारा स्वाभाविक है इसके पार भी तुम हो पद के पार प्रतिष्ठा के पार नाम यश के पार धन दौलत के पार तुम्हारा कुछ होना है उसे थोड़ा पहचान लो उसका थोड़ा अनुभव कर लो मौत उसे नष्ट न कर पाएगी जिसने स्वयं को जाना मौत उसके सामने हार जाती और मौत जल्दी आ रही तुम कह रहे हो उससे बचने का कोई उपाय है मैं तो सारी चेष्टा ये कर रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ जाए कि मौत जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए तुम्हारी तरफ चली आ रही और तुम कह रहे हो कि मैं रास्ता बता दूं कि मौत से बचने का कोई उपाय है तुम सोचते मैं कोई तुम्हें ताबीज गंडा दे दूं कि वो तुम बच जाओ मौत से जब तक कुछ अपनी कहूं सुनू जग के मन की तब तक ले डाली द्वार विदा क्षण आ पहुंचा फूटे भी तो थे बोल न श्वास कुआरी के गीतों वाला एक तारा गिरकर टूट गया हो भी न सका था परिचय द्रक का दर्पण से काजल आंसू बनकर छलका और छूट गया इतनी जल्दी सब हो जाएगा ज्यादा देर नहीं लगेगी जब तक कुछ अपनी कहूं सुनू जग के मन की तब तक ले डाली द्वार विदाचन आ पहुंचा कह भी ना पाओगे अपने मन की सुन भी ना पाओगे अपने मन की और पाओगे कि आ गई डोली अर्थी उठने लगी बंधने लगी फूटे भी तो थे न बोल श्वास पारी के गीतों वाला एक तारा गिरकर टूट गया एक तारा बज भी कहा पाता और टूट जाता कहा कौन कह पाता है जो कहना था कहा कौन हो पाता है जो होना था हो भी ना सका था परिचय द्रक का दर्पण से आंख अभी दर्पण से मिल भी ना पाई थी काजल आंसू बनकर छलका और छूट गया मौत तो जल्दी बढ़ी आती और किसी भी क्षण द्वार पर दस्तक दे देगी क्षण भर पहले भी खबर ना देगी कि आती हूं मौत तो अतिथि है तारीख तिथि बता के ना आएगी बस आ जाएगी एक क्षण फुर्सत न देगी तुम कहोगे साथ सामान बांध लू मित्र परिजनों से क्षमा मांग लू मिल लू जुल लू इतना मौका भी न देगी जल्दी करो इसके पहले कि मौत आ जाए तुम अपने भीतर के अमृत को पहचान लो तो मैं तो चाहता हूं कि तुम्हें मौत के प्रति और सजग करूं मैं तो चाहता हूं कि तुम्हें और कपा दूं तुम्हारी जड़ें हिल जाएं तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें नींद में सुला दूं कोई रास्ता बता दूं कोई तरकीब दे दूं कि जिससे मौत से बचाव हो जाए मौत से बच के करोगे भी क्या अभी कर क्या रहे हो जिंदा रह के यही करोगे ना बच के इसको कितने दिन तक करते रहने का मैंने सत्तर साल से मन नहीं चुकता सात सौ साल करोगे यही हद हो गई बात मैंने सुना है कि सिकंदर अपनी यात्राओं में एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसे पता चला कि एक झरने के पास एक ऐसा जलधार है कि अगर उसका कोई पानी पी ले तो अमर हो जाता तो वो गया उस जलधार को खोज किया जब वो पहुंचा जलधार के पास बड़ा आनंदित हो गया ऐसा इस फटिक स्वच्छ जल उसने कभी देखा ना था और चुल्लू भरने को ही था कि कौआ बैठा था वहां एक साख पर उसने कहा रुक सिकंदर पीछे पछताएगा पहले मेरी बात सुन ले सिकंदर तो बहुत हैरान हुआ एक तो ये चमत्कार कि इस पानी को पी के आदमी अमर हो जाता है और ये एक चमत्कार की कौआ बोलता है उसने पूछा कि क्या कहना है तुझे कौए ने कहा कहना मुझे ये कि मैंने भी ये पानी पिया मैं कोई छोटा मोटा कौआ नहीं हूं जैसा तू सिकंदर है आदमियों में ऐसा मैं भी एक सिकंदर हूं कौआ में इसी की खोज मैंने सारी जीवन लगाई और मैंने ये झरना पा लिया और मैं ये पानी पी चुका अब मैं तरफ रहा हूं हजारों साल से जिंदा हूं मरता नहीं अब मर सकता नहीं पहाड़ से गिरता हूं पत्थर पर सिर पटकता हूं जहर पीता हूं मरता नहीं और अब जिंदगी में कुछ सार नहीं वही वही कब तक दोहराए चला जाए अब देख लिया सब इसलिए तुझसे कहता हूं पहले सोच ले फिर मर ना सकेगा फिर तेरी मर्जी मैं इसलिए यहां बैठा हूं कि और दूसरे कोई ना समझी गलती ना कर ले जो मैंने की और कहते हैं सिकंदर थोड़ी देर सोचा फिर चुपचाप सरक आया उसने फिर उसको उस झरने का पानी पिया ने ये कहानी तो कहानी है लेकिन बात बड़ी सच है तुम पी सकोगे अगर उस झरने के पास पहुंच जाओ ये बात तुम्हें ख्याल में ना आएगी कि फिर पी के करोगे क्या फिर मरना असंभव हो जाएगा नहीं इस जिंदगी का सारा खेल मौत में समाया है इस जिंदगी का सारा रस ही मौत के कारण और मौत जरूरी है तुम मौत से बचो मत तुम मौत को झुटलाओ जु, मत तुम अपने मन को बहलाओ मत तुम मौत को स्वीकार करो आगे पीछे एक दिवस आना ही होगा तेरे द्वारे इसीलिए जीवन भर मैंने नहीं गेह पर दिए किवाड़े लेकर कोई कर्ज शीस तेरे गोकुल जाना ना उचित था यही सोच सौ सौ हाथों से बांटे जग को चांद सितारे लेकिन इस सन्यासीपन का फल यह सिर्फ मिला दुनिया से आंसू तक सब रहन हो गए अर्थी तक लीनाम हो गई मैंने तो सोचा था अपनी सारी उम्र तुझे दे दूंगा इतनी दूर मगर की मंजिल चलते चलते शाम हो गई यहां तो सब लुट जाएगा आंसू तक सब रहन हो गए अर्थी तक नीलाम हो गई यहां तो सब चुप जाएगा यहां से सब छूट जाएगा अर्थी तक नीलाम हो गई यहां तो कुछ बचेगा नहीं इसलिए मैं तुम्हें सांत्वना नहीं देता मैं तुम्हें झकझोरना चाहता मैं तो तुम्हारी सांत्वनाएं छीन लेना चाहता मैं तो तुमसे कहता हूं मौत निश्चित है मौत होने वाली मौत कल होगी आने वाले क्षण में हो सकती बचो मत स्वीकार करो और जितनी देर क्षण बचे हैं इनको तुम जीवन की तलाश में लगा दो अंत जीवन की तलाश में वहां है किरण अमृत की शाश्वत की और वह तुम्हारी किरण है मिल सकती तुम उसके मालिक हो तुमने दावा नहीं किया है दावा करो घोषणा करो शरीर से अपने को थोड़ा हटाओ चैतन्य में थोड़े जगो हरिओम तक सत्य आज इतना